लिए हैं वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते और मारते और मरते हैं उनसे जन्नत का वादा अल्लाह के जिम्मे एक पक्का वादा है तौरात और इंजील और कुरान में और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला हो अतः खुशियां मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया है यही सबसे बड़ी सफलता है अल्लाह की ओर बार बार पलटने वाले उसकी बंदगी करने वाले उसकी तारीफ के गुण गाने वाले उसके लिए जमीन में चक्कर लगाने वाले और उसके आगे झुकने और सजदे करने वाले भलाई का आदेश देने वाले बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने वाले इस शान के होते हैं वे ईमान वाले जो अल्लाह से सौदे का ये मामला तय करते हैं और ए नबी इन ईमान वालों को खुशखबरी दे दो नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं शोभा नहीं देता कि मुशरिकों के लिए माफी की दुआ करें चाहे वे उनके नातेदार ही क्यों ना हों जबकि उन पर ये बात खुल चुकी है कि वे जहन्नम के योग्य हैं इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो माफी की दुआ की थी वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था मगर जब उस पर यह बात खुल गई कि उसका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गया सत्य ये है कि इब्राहिम बड़ा कोमल हृदय वाला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 जब तक कि उन्हें साफ साफ बता न दे कि उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए वास्तव में अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है और ये भी सत्य है कि अल्लाह ही के अधिकार में जमीन और आसमानों का राज्य है उसी के अधिकार में जिंदगी और मौत है और तुम्हारा कोई समर्थक और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को और उन घर बार छोड़ने वाले मुजाहिरों और उनकी मदद करने वाले अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के समय में नबी का साथ दिया अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कुटिलता की ओर झुक चले थे मगर जब उन्होंने इस कुटिलता का अनुसरण न किया बल्कि नबी का साथ दिया तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया बेशक उसका मामला इन लोगों के साथ नरमी और दया का है और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामले को स्थगित कर दिया गया था जब जमीन अपनी सारी वसात यानी फैलाव के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर बोझ होने लगी और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई शरण लेने की जगह खुद अल्लाह ही की दयालुता की छाया के सिवा नहीं है तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी ओर पलटा ताकि वे उसकी ओर पलट आएं।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 के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी ओर से बेपरवाह होकर अपनी अपनी जान की चिंता में लग जाते इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह के मार्ग में भूख प्यास और शारीरिक मशक्कत की कोई तकलीफ वे झेलें और सत्य का इनकार करने वालों को जो मार्ग अप्रिय है उस पर कोई कदम वे उठाएं और किसी दुश्मन से सत्य की दुश्मनी का कोई बदला वे लें और उसके बदले उनके हक में एक अच्छा कर्म न लिखा जाए यकीनन अल्लाह के यहाँ उत्तम कारों का पारिश्रमिक मारा नहीं जाता इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि वे अल्लाह के मार्ग में थोड़ा या बहुत कोई खर्च उठाएं और जिहाद के प्रयास में कोई घाटी व्यापार करें और उनके हक में उसे लिख न लिया जाए ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामों का बदला उन्हें प्रदान करे فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफतुन लियतफ़क़हू फिद्दीन लियतफ़क़हू फिद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ातिलुल्लज़ीन यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह और ये कुछ जरूरी न था कि ईमान वाले सारे के सारे ही निकल खड़े होते मगर ऐसा क्यों न हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के निवासियों को सावधान करते ताकि वे मुस्लिमों से भिन्न नीति से परहेज करते ए लोगो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 गंदगी का इजाफा कर दिया और वे मरते दम तक कुफ्र ही में पड़े रहे क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो बार ये आजमाइश में डाले जाते हैं मगर इस पर भी न तौबा करते हैं न कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं जब कोई सूरा उतरती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है फिर चुपके से निकल भागते हैं अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है तुम्हारा नुकसान में पड़ना उसके लिए असह्य है तुम्हारी कामयाबी की वो लालसा रखता है ईमान वालों के लिए वो बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल है अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है कोई पूज्य नहीं मगर वो उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है महान राज सिंहासन का